फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के जो भी गीत गीतमाला की पायदानों पर बजते थे और जो मैं गीतमाला की छाव में बजा रहा हूं ये सारे के सारे इतने मधुर थे या चटपटे थे कि आज तक हम उन्हें बड़े प्यार से सुनते हैं लेकिन कभी अगर वो पुरानी फिल्में देखने को मिल जाए ना तो उनके गीत तो आज भी रोमांटिक और इमोशनल लगते हैं मगर उनके सीन्स जो थे उन्हें देखकर हमें थोड़ी बहुत हंसी जरूर आ जाती है मेरे साथ भी यही हुआ जब मैंने उन दस टॉप सॉन्ग्स को कंप्यूटर पर उतरवा कर देखा उस साल का गीत नंबर दस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का था हरियाली और रास्ता और देखिए कितने तंदुरुस्त लगे थे उसके गर्म कपड़े पहन के झूमते चलते गाते हुए हीरो हीरोइन गोल मटोल बंगालन रोशगुल्ला माला सिन्हा और टोपीदार ऊंचे तगड़े पंजाबी मुस्टंडे मनोज कुमार इश्क में हम सारी रात जागे अल्लाह जाने क्या होगा आगे तो मौला जाने क्या होगा आगे दिल में तेरी सच के बंधने लगे उन दस टॉप गीतों की फिल्मों में सिर्फ दो ही कलर में बनी थी जिनमें से एक थी गंगा जमुना गीत नंबर नौ में गांव की गोरी यानी वैजंती माला हाथ में कान का एक बाला लेकर बड़े मजे से डांस करके गा रही है शायद ये जानते हुए कि उसके सुस्त प्रेमी यानी दिलीप कुमार चाहे कितनी भी दूर सो रहे हों ये गाना सुनकर जरूर जाग जाएंगे और वहाँ आ जाएंगे ये सोच करके ये कौन है जो शोर मचा रहा है भाई ढूंढो ढूंढो और साहब पायदाने नंबर आठ और सात पर तो उस साल एक बड़ी अजीब बात हो गई थी उन दो पायदानों पर तीन गाने थे जी हाँ और तीनों एक ही ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जब प्यार किसी से होता है के हाँ, दो गीत तो एक साथ थे नंबर आठ पर पहले गीत में एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आती है जिसके एक कंपार्टमेंट में चुलबुली आशा पारे बैठी हुई है और साथ सड़क पर चलती हुई एक मोटर कार के ऊपर कुछ लगेज है और लगेज के भी ऊपर बिंदास लेटे हुए गा रहे हैं देवानंद शुक्र है कि गिरे नहीं जिया जिया जिया कुछ बोल दो अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो जिया जिया जिया कुछ बोल दो अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो जब प्यार किसी से होता है तो दर्द का दिल में होता है तुम एक हसीन हो लाखों में मुलापा के तुम्हें कोई खोता है जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो और इसी के साथ नंबर आठ पर उसी फिल्म का वो गीत जिसमें एक बड़े दुबले पतले देवानंद जरा ढीला सूट पहनकर गले में बोटाई और हेयर स्टाइल में अपना ट्रेडमार्क पफ लगाकर आ, मगर बड़े दुखी होकर गा रहे हैं क्योंकि आशा पारेख उन्हें लिफ्ट ही नहीं दे रही है भाई तेरी दुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी तेरी धुल से जुदाई पायदान नंबर सात पर लगा था कि दोनों में सुलह हो गई जैसे जीवन में न फिल्मों में तो अक्सर होती है ना और सिर्फ सुलह ही नहीं बल्कि प्यार भी हो गया साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा से तुझसे मिलने था जिया था आज भी है और कल भी रहेगा अब पायदान नंबर छह पर एक मर्डर मिस्ट्री बीस साल बाद का सस्पेंस धुंध है धुआं है जंगल की झाड़ियों के पत्ते हिलते हैं शहर की गलियों में साय लहराते हैं और हीरो विश्वजीत जरा डर कर जरा चौंक कर आजकल के सोशल टीवी सीरियल्स के कलाकारों की तरह बस इधर उधर घूरते ही चले जाते हैं घूरते ही चले जाते हैं मगर साहब क्या लाजवाब गाना था वो जिसे शायद सायों में ढकी छुपी वहीदा रहमान गा रही थी ना कहीं चले कहीं दिल जरा देख ले अच्छा भाई अब हाजिर है एक और कलर फिल्म का गीत हीरो हैं शम्मी कपूर जिन्होंने अपने उस रोल के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुबोध मुखर्जी उनसे मिले और कहने लगे या मेरे स्टार को तेरा दोस्त नासुर हुसैन ले गया उसका स्टार मैं ले लेता हूँ तू मेरे साथ पिक्चर बना मैं बना रहा हूँ मिस्टर हिटलर तो मैंने सबोदा ठीक है हम आपके साथ बनाएंगे गया के नासिर हुसैन ने लिया देवानंद को सबोज मुखर्जी ने लिया शमी कपूर को एक तरफ भाई थी जब प्यार किसी से होता है ब्लैक एंड व्हाइट में और दूसरी तरफ बनी मिस्टर हिटलर जिसका नाम बदलकर हो गया जंगली अरे बाप रे इस जंगली याहू पर तो सिर्फ सायरा बानो ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर लदी हुई बर्फ भी हिल गई थी साहब और शम्मी के साथ सायरा भी बर्फ की घाटियों पर लेटकर स्लाइड करने लगी ये फिसलना नई नवेली सायरा ने खुद तो नहीं किया होगा डेफिनेटली कोई डुप्लीकेट ही होगी चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने तो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने कहता रहे हम प्यार के तूफानों में हैं हम क्या करें अच्छा भाई अब जंगली से फिर शरीफ बावफा इंसान बनकर आ जाइए उस साल की ऊंची पायदान नंबर चार पर फिल्म अनपढ़ की एक और गजल जिस पर नौशाद साहब भी फिदा थे स्क्रीन पर माला सिन्हा सहमी सी नजाकत के साथ अपने हीरो धर्मेंद्र की नजर इनायत का शुक्रिया अदा करती हुई अब आते हैं 1962 के top three songs three number तीन पर था मीना कुमारी का नर्मो नाजुक शर्माता मुस्कुराता हुआ हुस्न शबाब जिसके सुरूर में फिल्म आरती के बड़े शरीफ गरीब मगर थोड़े से आलसी प्रदीप कुमार बैठे हुए गा रहे हैं उस संगीतकार की बड़ी खूबसूरत धुन जिसकी रोशन मधुरता के बारे में मुझे एक बार लता जी ने बताया था बड़े भावुक थे रोशन साहब छोटी छोटी सी बात उन्हें बुरी लग जाती थी और फिल्मी दुनिया की धंधेबाजियों में उनकी कला हमेशा बौखला कर रह जाती मगर एक बात जरूर है परेशानी के उन दिनों में भी उनके संगीत में कभी उलझन न आई उनकी धुनों में एक संतोष एक इतमान हुआ करता था अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की इंसान बन गई है किरण महताब की अब क्या मिसाल दूं का नूर आंखों में है चमन की जवारात का शुरू गर्दन है एक झुकी हुई डाली डाली गुलाब की अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब के बस अब 1962 के दो सबसे ज्यादा कामयाब गीतों के लिए देखिए पर्दे पर कई रंग उभरे लेकिन भाई पायदान नंबर दो पर रंग भी गम का था गंगा और जमुना की जुदाई का गम उधर दिलीप कुमार जेल में बंद है बेचारे पता नहीं क्यों और इधर अकेली वजंती बाला आंसू बहा रही हैं और नेचुरली गा रही हैं बादाने चढ़ते चढ़ते उन्नीस के वार्षिक कार्यक्रम के आखिर में बजा चोटी की पादान का बिगुल फिल्म जंगली का वो गाना तो एक था मगर लता ने सारा के लिए और रफी ने शमी कपूर के लिए उसे अलग अलग गाया था और हमारे रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन ने उसे आपके लिए बना दिया है ड्यूएट एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों के में रहने दो एहसान तेरा हो गा मुझ पर Thank you. ससुराल के सुपरहिट गीत चश्मे बद्दूर और सन बासठ की फिल्म जंगली के इस गीत से शंकर जयकिशन ने फिर गीतमाला की चोटी की पायदान नंबर वन पर कब्जा किया था छह वर्षों के बाद जब 1955 में श्री 420 का मेरा जूता है जापानी चमका था और भाई उसके बाद क्या हुआ आगे चलकर शंकर जयकिशन को रोशन कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कैसे तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा ये आप गीतमाला की छाओं के अगले वॉल्यूम्स में सुनेंगे मगर अभी तो ये घंटा खबर दे रहा है कि अब उन्नीस का हाल हो गया खत्म बस अब जल्दी से कदम रखो सन उन्नीस में तो डीजे साहब 1963 की नीचे वाली पादाने आपके लिए है तैयार उस साल की एन्यूअल गीतमाला में नंबर 32 पर वही प्यार किया तो डरना क्या यही फिल्म का नाम था जाने बहार हुस्न तेरा मिसाल है जाने बहार हुसन तेरा मिसाल है बल्ला कमा अरे वल्ला कमाल है जान बहार तेरा बेमिसाल है और सन तिरसठ में नंबर इकतीस पर फिर शम्मी और सायरा लेकिन फिल्म है ब्लफ मास्टर गोविंदा आला रे नंबर तीस पर मोहब्बत की आंख से बहे हुए खूबसूरत आंसू ताज महल के पस मंजर में हसीन प्यार की मुजरिम बीना राय की शिकायत जुर्म उल्फत पे हमें तिरसठ की उनतीसवीं पायदान पर देवानंद और साधना का अमर प्यार मगर असली ये नकली सा नंबर 28 पर था उसे मैं चाहता तो हूँ कि पूरा बजाऊ आपके लिए मगर टाइम कहाँ है बस दिल ही तो है लागा चुन दी में दाग छुपाऊ कैसे लागा चुन दी में दाग चुन दी में दाग छुपाऊ कैसे घर जाऊं कैसे धागा चुन दिन दाग छुपाऊं ऐसे लागा चुन दिन दाग और नंबर सत्ताईस पर गीत किस फिल्म का अच्छा भाई अब गीत माला की छाव में का वॉल्यूम सुनने वाले सभी बैचलर्स यानी कुआरे मनमौजी नौजवानों उन्नीस की पायदान नंबर 26 पर ये देखिए मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट है जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की जरूरत है जरूरत है जरूरत पति की सेवा करे जो पति की जरूरत है जरूरत है जरूरत है अच्छा क्या ख्याल है बहनों भाइयों अब उन्नीस की लोकप्रियता की मकबूलियत की धूप से निकलकर फिर चले छाओ की ठंडक में छाओ का यह हिस्सा शुरू होता है फिल्मी दुनिया के बड़े सीनियर बड़े लाजवाब संगीतकार सज्जाद हुसैन की धुन से बल्कि उनकी यही फिल्म शायद उनकी आखिरी फिल्म थी इतने महान मूसीकार होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ कोई चौदह फिल्मों में संगीत दिया वजह ये थी कि वो जरा कड़क टाइप के इंसान थे उनकी किसी से बनती ही नहीं थी बहरहाल उनकी वो आखिरी फिल्म दो मशहूर भारी भरकम पहलवान टाइप के सोल्जरों की कहानी थी जिसमें बाप रुस्तम बने थे पृथ्वीराज कपूर और आ, उनका वो अनजाना बेटा सोहराब उसका रोल किया था प्रेमनाथ ने रुस्तम की बीवी बनी थी सुरीली सीनियर सिंगिंग स्टार सुरैया जिनका गाया हुआ शायद करीब करीब आखिरी गीत इसी फिल्म में था मगर बहनों भाइयों आज मैं पेश करूंगा लता का गीत उस फिल्म का जो लता के बड़े यादगार गीतों में गिना जाता है सज्जाद ही की तरह ऐसे ही एक और बड़े काबिल म्यूजिक डायरेक्टर थे इकबाल कुरैशी जो अपने जमाने की जबरदस्त खींचा तानी और कंपटीशन में जरा पीछे रह गए 1963 में इकबाल कुरैशी का काफी जोरदार संगीत था फिल्म ये दिल किसको दू में मैं भाई उस फिल्म में आपका ये दोस्त अमीन सायानी भी नजर आया था जी हाँ किसी रोल में नहीं था मैं सिर्फ फिल्म के टाइटल्स में था बहरहाल तीन बड़े ही प्यारे और अनोखे गीत थे उस फिल्म में जिनमें से एक मैंने आज की छाव के लिए चुना है ये फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम इनकार का आलम कभी इकरार का आलम फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम प्यार का अकरार कालम फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम माल खाता हुआ सर्व खराम मैं कैसे बुला दूं तेरी रफ्तार कालम फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम कब आए थे वो कब गए कुछ याद नहीं है आंखों में बसा है वही बेदार गाल फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम इनकार का आलम कभी इकरार का आलम